जो मदीन हम भी जाते जो मदीन हम भी जाते तो कुछ और बात होती जो मदीन हम भी जाते तो कुछ और बात होती जो मदीन हम भी जाते तो कुछ और बात होती वही राह भूल जाते वही राह भूल जाते तो कुछ और बात होती जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती ये हवा के मस्त जोंके जो इरम से आ रहे हैं ये हवा के मस्त के जो के जो इरम से आ रहे हैं यही तैबा हो के आते यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती ये सितारों का सुन है नजर नवाज ये सितारों का तब तबसुम है नजर नवाज लेकिन ये सितारों का तब तबसुम है नजर नवाज लेकिन मेरे आका मुस्कुराते मेरे आका मुस्कुराते तो कुछ और बात होती जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर आको मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर आको मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर आका तेरे नाम पर पिलाते तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती जो मदीन हम भी जाते तो कुछ और बात होती ये जो नाते पाके बेकल महफिल में पढ़ रहे हैं ये जो नाते पाके बेकल महफिल में पढ़ रहे हैं ये जो नात पाके बेकल महफिल में पढ़ रहे हैं यही तैबा में सुनाते यही तैबा में सुनाते तो कुछ और बात होती जो मदीन हम भी जाते तो कुछ और बात होती जो मदीन हम भी जाते तो कुछ और बात होती वही राह भूल जाते वही राह भूल जाते तो कुछ और बात होती वही राह भूल जाते तो कुछ और बात होती जजाkum If somebody that's young can do it, it takes a lot of effort and a lot of courage to stand in front. Then each and every one of us